आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक radio station radio Madhuban radio Madhuban 90.4 point सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग पिंडवाड़ा पहुंचे हैं जहां पर यूरेका पब्लिक स्कूल में आए हुए हैं हम लोग विद्यार्थी हमारे बीच में हैं और प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर साहब हमारे बीच में हैं जो इन बच्चों को खास सिंगिंग कंपटीशन के लिए तैयार कर चुके हैं और बीस से पच्चीस बच्चे जो है इस राउंड में अपना भागीदारी निभा रहे हैं तो आइए शुरुआत में हम लोग पुखराज सिंह से जानते हैं कि इस कार्यक्रम के पीछे उनका लक्ष्य क्या है आइए अभी सुनते हैं पुकराज जी को I welcome to all the social worker who came from the Abu Road Brahmakumaris and thanks for coming here. आज बच्चों संगीत का मतलब होता है आपके आत्मा का शुद्धिकरण आप सुबह सुबह उठोगे और अगर संगीत की सहायता से आपका दिन शुरुआत करोगे तो आप बहुत अच्छा रहेगा उसका पूरा दिन अच्छा रहेगा इसलिए I initiate I just advise you to always you should go for listening, songs, motivational, and uh, all bhakti songs also. Okay, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया पुखराज जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि संगीत को अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो ये हमारी आत्मा की शुद्धिकरण होता है हमारे अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स शुरू हो जाते हैं हम सबके लिए सकारात्मक सोच सकते हैं और साथ ही साथ हमें अच्छा भी फील होता है जब हम लोग संगीत को सुनते हैं किसी भी अच्छे म्यूज़िक को हम लोग जब अच्छी तरह से सुनते हैं तो हमारे मन में शांति आ जाती है हम लोग काम फील करते हैं तो आइए इस सिलसिले को जारी करते हैं तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों का सिंगिंग कंपटीशन अभी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं रेडियो माधवा 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो आशा आशा आशा कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाए हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चिर के मंजिलों को छीन ले आशाएं ले कुछ भी नहीं कुछ भी ले दिल उम्मीदें हंसे दिल अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा आशाएं मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं वेकी करा वेकी करा एक बार को तो जल्दी तो दिखा दे झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे वेखी करा वेखी करा रांझड़ दया यार सुन रे पुकार बोले हाँ तू ही तो यार बोल बोलशिद मेरा मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले सरहद के बार बोले हाँ पर्वत दीदार बोलिया हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा रामझड़ दे यार बोलिया सुन ले पुकार बोलिया तू ही तो यार बोलिया बुलशन मेरा बुलशन मेरा तेरा मुकाम कमले सरहद के बार बुलिया पर्व दीदार बुलिया हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा सर हो गया ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को ओपन राउंड में बच्चे आ रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस को हमारे बीच में शेयर कर रहे हैं तो चलिए दूसरे विद्यार्थी को हम सुनेंगे अभी नमस्कार मेरा नाम है पूर्वा मैं गाना गाऊंगी छोटी सी हंसी छोटी सी खुशी छोटा सा टुकड़ा चांद का सांपों की दिन खुशी चल बनाए आशिया दबे दबे पाओ से आए हले हले जिंदगी नोटो पे तिली चढ़ा के सर थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट एफएम तरंग इस कैटेगरी में सब बच्चे जो हैं अपने अपने हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं और हम उन्हें सुन रहे हैं my name is Palak Maurya Shah मैं मैं I am song I am singing song सब तेरा ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा सुन जरा बिन तेरे मुझसे ना रास्ता दिल तू मिला है तो है कह रहा मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ बस तेरा बन चुका हूँ मेरा मुझ में कुछ भी नहीं सब तेरा मैं तो तेरे ढल में ढल चुकी हूँ बस तेरी बन चुकी हूँ मेरा मुझ में कुछ भी नहीं सब तेरा सब तेरा मेरे दिल के रास्तों में तेरी आहट जो हुई हर धड़कन जश्न में है ये लाइक जो हुई ओ मेरे दिल के रास्तों में तेरी आहट जो हुई हर धड़कन जश्न में है ये लाइक जो हुई मैं तो तुझे देखे जी बनी हूँ तेरे धड़कन मैं बनी हूँ मेरा मुझ में कुछ भी नहीं सब तेरा सब तेरा thank you my name is Janvi Kumar I song मैया यशोदा टन टन टन टन टन टन टन टन टन टन टन मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया गट पे तेरे ये पकड़े हैं भैया संग मुझे करता है संग मेरे लड़ता हाय वो राम जी की कृपा से मैं बची राम जी की कृपा से हाँ जी हाँ राम जी की कृपा से गोकुल की गलियों में जमुना किनारे जो मांगी कंगनिया चुप चुप के मारे टन टन टन टन टन टन प्यारा पिया है, है, है। प्यारा पिया है जो तुमने दिया है ममता किया चल से हमने लिया है मीठी मीठी बातों में मुझको फंसा हाय ओ राम जी की कृपा से मैं बची राम जी की कृपा से थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर ओपन सेशन सुन रहे हैं तरंग इस कार्यक्रम में बच्चे आकर अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं और हम उन्हें सुन रहे हैं मैं पल तो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी कहानी है मैं पल तो पल का शायर हूँ मैं पल तो पल का शायर हूँ मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए वो भी एक पल का हिस्सा थे मैं भी एक पल का हिस्सा कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा वो आए तुम्हारा हिस्सा हूँ मैं पल तो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है मैं पल तो पल का शायर कल और आएंगे कदमों की खिलती किलियाँ सुनने वाले मुझसे बेहतर कहने वाले मुझसे बेहतर सुनने मैं पल तो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जान थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर बच्चों का singing competition Eureka public school के बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं ओपन सेशन में और वो अपने परफॉर्मेंस को हमारे बीच में सुना रहे हैं और हम सुन रहे हैं तो आइए वेदिका हमारे बीच में है अभी उन वेदिका को हम सुनते हैं my name is Vedika Kumari अब जाग उठे हैं हम कुछ करके दिखा देंगे ऐ माँ तेरी चरणों में आकाश झुका देंगे अब होश में आए हैं अब जोश में आए हैं ए माँ तेरी चरणों में आकाश झुका देंगे अब उठ बैठे हैं अब तूफान मचा देंगे ए माँ तेरी चरणों में आकाश झुका देंगे सदियों की गुलामी को हम सब ने भगाया है दुनिया के लुटेरे को दुनिया से मिटा देंगे ए माँ तेरी चरणों में आकाश झुका देंगे मोती न लुटा माता आसू न बा माता हम तेरे पसीने पर खून अपना बहा देंगे ए माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम हेलो मेरा नाम है ईशाना मालविया मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी सावन में मैं तो मोरनी बन सावन सावन में मोरनी बन के मैं तो चमचम नाचू हो मैं तो चमचम नाचू सावरिया तेरी याद में सावरिया तेरी याद में तेरी चिटिया बाछू हो तेरी चिटिया बाजू शीरों से चुपके से सावन की ये सब बूंदे चिट्टी का हर अक्षर मेरी उड़ाता है निंदे एक तू तो ही तन्हाई सी है शीतम उस पे ही सावन जलते हैं हम आओ आओ जान प्यार का है ये मौसम मदमाटी का रो सकी आओ आओ जरा बेड़े हम आओ आओ जानम प्यार का है ये मौसम मदमाटी का रो सकी आओ जरा बेड़े हम thank you my name is Bhumi Sompura Bhumi Sompura I will singing the song of दिल है छोटा सा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भर मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भर मन की भोली सी आशा महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महक है जैसे बादलों की मैं ओढ़ू चुनरिया मैं फूल जाऊं मैं झूम जाऊं मैं बन के बवरिया अपनी चोटी में बांध लूँ दुनिया दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भर मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा स्वर्ग सी धरती खिल रही है जैसे मेरा मन भी तो खिल रहा है वैसे थैंक यू गुड मॉर्निंग मेरा नाम है my name is Yuvraj Rajpreet good morning my name is Yura Rajpreet I am singing the song मारो राजस्थान राजस्थान मारो अतरंगी लो सतरंगी दार कट जाने हैं रॉक कट जाने हैं फोक देखो आर्ट स्पोर्ट शेखावटी रेखावटी गोली मारवाड़ी पिंक सिटी गुलाबी राजधानी बोलो राम राम सामो खमा गणी खाओ साजिमो साजिमो दाल बाटी currency in the Ranthambore chips की सवारी सवारी हो है नेस्ट है यो हाय नेस्ट है मगर जिसमें दिखता है कल्चर थिंग्स लाइक रिवॉल्वर क्लुक क्लुक क्लुक brother Hey, respecting your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 मिला है तो इनाम है मेरा मेरा आजमा ढूंढे तेरी कमी मेरी हर कमी जो है तू लाजमी थैंक यू मॉर्निंग मैं युवराज सिंह क्लास सेवन से आपको मैं गाना सुनाने वाला हूँ मैं हूँ हीरो तेरा आँखों के पन्नों पे हैं मैंने लिखा था सौ दफ़ा लफ्ज़ों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयां मुझसे नाराज हूँ क्यों बे आवाज़ हूँ मेरी खामोशियाँ हैं सजा दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा कि मैं हूँ हीरो तेरा हम्म, आँखों में भी ये हाथों में भी ये हाथ मगर हम मिले दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा कि मैं हूँ हीरो तेरा कि मैं हूँ हीरो तेरा हम्म, धन्यवाद निखिल टाक सॉन्ग ये चाहती है बेताबी ये चाहती है बेताबी ये चाहती है बेताबी नाकाम नहीं है नाकाम नहीं है अब मेरे बिना उनको भी ही, अब मेरे बिना उनको भी आराम नहीं है सीने से तिल गया तिल गया सीने से तिल गया तेरा जादू चल गया तू मुझको मिल गया आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक radio station radio Madhuban radio Madhu 90.4 FM सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए name is Prerna and I am singing a song which is China Jina. दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे ना सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म सच्ची सी है ये तारीफ दिल से जो मैंने करी है जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम हो आसमां मिला जमी को मेरी याद याद पूरे है हम तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी ना सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम thank you my Garima Saran किसे पूछूं है सा क्यों बेजहाँ सा वक्त भी यहाँ है खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिसा सा वक्त भी यहाँ है जाने कितने लबों पे गिले जिंदगी से कहीं फासले बस इनकी तरह कुछ मैं भी करूं जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा सांसों ने कहा रुक मोड़ लिया कोई राह नजर में न आई धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया छोड़ जाने इन जिस्म में छाए यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का दुआ जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा hello I am Mansi Rawal from Navarat मैं सॉन्ग गाऊंगी सब तेरा ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे हो के जुदा सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल तू मिला है तो है कह रहा मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ बस तेरा बन चुका हूँ मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा सब तेरा मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ बस तेरी बन चुकी हूँ मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा सब तेरा मेरे दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई हर धड़कन जश्न में है ये नायत जो हुई मैं तो तुझे मिलकर जी उठी हूँ तेरी धड़कन मैं छुपी हूँ मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा सब तेरा जिस पल तू साथ मेरे उस पल में जिंदगी है तुझे पाके पाया सब कुछ कोई ख्वाहिश अब नहीं है thank you my name is Amit Rawal I am studying class 9. Oh, oh, oh, सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं धीरे धीरे दिल की जमी पे तेरे है नाम करूं खुद को मैं यूं खो दूं की ना फिर पाऊ होले होले दिल की जमी को तेरे हवाले करूँ सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे करम रे करम रे मैंने तुझ पे करम किया रे सनम रे सनम रे सनम रे सनम रे तेरा मुझ पे सनम हुआ रे thank you morning my name is Varsha I singing the song मेरे पापा मेरी जमी आसमां मेरे पापा मैं हूँ जहाँ है वहाँ मेरे पापा तुम सांसों की सांस हो शाम शहर मेरे पास हो जहाँ मेरे आंसू थे डले वहीं मुझे हंस के मिले मेरे पापा मेरे पापा रूठूं जो मैं तुमसे कितना डरते हो रब की तरह जिद मेरी पूरी करते हो होने को न दे कभी मुझको गिले मैं चांद कहूँ मुझे चांद मिले कैसे कैसे जादू करे मेरे पापा मेरे पापा एक शिकन चेहरे पर सह न पाते हो हाँ, मेरे लिए किस्मत से भी लड़ जाते हो हाँ। मेरे पास कोई दुख आ न सके कोई धूप मुझे मुरझा न सके मेरा साया बन के चले मेरे पापा मेरे पापा thank you My name is Mitali Goyal. Oh. रन के ही न हो चेहरा रन के ही कहे दिल वाले बते बिना नव सजरे जवन के ही जग घूमे थार जैसा ना कोई न तो हसना मन के ही न तो खुशबू शुरन के ही नव रंगली अदाऊ देखी नव प्यारी से नगन के ही जैसी तू है वैसी रहना जग घूमिया थर जैसा ना कोई बारिशों की मौसमों की भीगी हरियाली तू सर्दियों में गालों पे जो राधी है बुला ली तू रातों का सुकून रातों का सुकून भी है सुबह की ही चाहतों की चादरों में मैंने है संभाल ली तो कहीं अग जैसे जलती है मैंने बरखा का पानी के ही मैंने अग जैसे चुपके से यूनी अपने चलन के ही जैसी तू है वैसी रहना जग घूमिया थार जैसा ना कोई अपने नसीबों में या हौसले की बातों में सुख और दुखों वाली राय है बुरलित संज तुझे रखना है संज तुझे रखना है मेरे संग चही चाहतों की चांदनू में मैंने है संभाली थैंक यू प्यार से चक तुम तुम चक तुम तुम घोड़े जैसे चांद हाथी जैसे तुम ओशा बन जाता कहाँ से आए तुम चक तुम तुम चक तुम तुम घोड़े जैसे बारिश आती है चपड़ चपड़ पर तुम बारिश आती है चपड़ चपड़ पर तुम थैंक यू मेरा नाम गरिमा कुंवर है मैं एक गाना गाऊंगी चाहे है चाहे कैसे भी तन कितनी भी बाहे का अंदाज है चाहे हमको ना प्यार से आजमाना आजमाना आजमाना प्यार वाले इष्ट वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले दुश्मनों के छक्के चुड़ा ले हम इंडिया वाले उंगली पे सबको नचा ले हम इंडिया वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को बच्चों का सिंगिंग कंपटीशन आप सुन रहे हैं यूरेका पब्लिक स्कूल के बच्चे जो है ओपन सेशन में अपनी अपनी परफॉर्मेंस हमारे बीच में सुना रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप सभी इन बच्चों को सुने और समझें नेम इज नवनीत सिंह परमार मुझे को थोड़ा रंगून घुमा के अंधा का जैसा चश्मा लगा के आंदर लचना वे ऑल आई फॉर आंदर लचना वे ऑल आई फॉर lungi dance lungi dance lungi dance lungi dance lungi dance ही तैयार पलिया हाफिज तेरा खुर्शिद मेरा तेरा हुकाम कम ले सरहद के बार पलिया तू ही तैयार पलिया हाफिज तेरा खुर्शिद मेरा तेरा हुकाम कम ले सरहद के बार पलिया तू ही तैयार पलिया हाफिज तेरा खुर्शिद मेरा रंजक और तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ माँ ये वन है कांटों का तू फुलवारी है ओ माँ my name is Krishna Kumari मैं सॉन्ग इज तू का कुछ खास तू मेरे लिए कुछ खास है तुझ में कोई बात है नजरों से दूर है तो क्या हुआ बन के जो दिल की धड़कन मेरे पास है तेरे दिल में रहूँगा धड़कन बन कर धड़कन मैं रहूँगा सा से बन कर दाम समझ साथ चलूँगा साया बन कर ये दिल है मेरा ये जान मेरी कुर्बान हुआ मैं तुझसे हुआ जब होकर सारी खुशियाँ मेरी क्यों मेरी उदासी उदासियों मुझे उदास कर जाती हैं दिल की खामोशियों मुझे खामोश कर जाती हैं क्या रिश्ता है तेरा और मेरा जब पल के बंद हो के भी तेरी याद आ जाती हैं तेरी याद आ जाती है अगर तोड़ लेता अगर तो गुलाब होती मैं जो खाब बनता अगर तो सवान होती सब जानते हैं मैं नशा नहीं करता मगर पी लेता मगर तो शराब होती ना रूट ना रूटना मुझसे मर जाऊंगा दिल की दुनिया तेरे नाम कर जाऊँगा थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को ओपन सेशन में आप सभी बच्चों को सुन रहे हैं यूरेका पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी एक एक अपना परफॉर्मेंस हमारे बीच में शेयर कर रहे हैं और अभी हमारे बीच सुनीता गुजर हमारे बीच में है वो भी बच्चों के साथ मिलकर इस कॉम्पिटिशन में अपनी परफॉर्मेंस को दे रहे हैं तो आइए सुनीता जी को हम सुनेंगे अभी आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो गुड मॉर्निंग मेरा नाम सुनीता गुर्जर है मैं आपके सामने एक भक्ति गीत प्रस्तुत करने जाना चाहती हूँ जिनके बोल हैं हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी आंगन चौबारा अंधियारा आंगन चौबारा अंधियारा आंगन चौबारा अंधियारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान मन का महल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान किसी हृदय हमारा पिघल न पाया जब दिखा दुखियारा हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा सुखी है करुणा की धारा हो सुखी है करुणा की धारा आंसू की है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेंगे अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेंगे हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा सच्चे मन से नहीं पुकारा हो सच्चे मन से नहीं पुकारा सच्चे मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान सच निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते श्याम सूर की बाह पकड़ते शाक विधुर घर खाते श्याम सूर की बाह पकड़ते शाक विधुर घर खाते इस पर हमने नहीं विचारा इस पर हमने नहीं विचारा इस पर हमने ने नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान हमने मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान thank you hello my name is Hrithik Kumar Prajapat and my song is हम बेवफा हम बेवफा हर गिज न थे पर हम वफा कर ना सके हमको मिली उसकी सजा पर जो खता कर ना सके हम बेवफा गिज न थे पर हम वफा कर न सके कितनी अकेली थी वो राहे हम जिन पे अब तक अकेले चलते रहे तुझसे बिछड़ के भी ओ बेखबर तेरे ही गम में चलते रहे तूने किया जो शिखवा हम वो गिला कर ना सके हम बेवफा हर गिज न थे पर हम वफा कर ना सके तुमने जो देखा सुना सच था मगर कितना सच ये किसको पता जाने तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया जाने तुम्हें कोई धोखा हुआ इस प्यार में सच झूठ का तुम फैसला कर ना सके हम बेवफा हर गिज न थे पर हम वफा कर ना सके पर हम वफा कर ना सके थैंक यू मॉर्निंग मेरा नाम स्वीटी अग्रवाल है यहाँ पर मैं एक अध्यापिका के रूप में कार्य कर रही हूँ मैं आपको एक भजन सुनाऊंगी यसुमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला यसुमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला बोली मुस्काती मैया ललन को बताया बोली मुस्काती मैया ललन को बताया काली आंधी आ रही आधी रात में तू आया लाडला कन्हैया मेरा हो लाडला कन्हैया मेरा काले कमली वाला इसीलिए काला यशोमती मैया से बोले नंद लाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे गोरी गोरी राधिका के नैन गजरारे रे काले नैनो वाली ने हो काले नैनो वाली ने ऐसा जादू डाला इसलिए काला यसुमती मैया से बोले नंद लाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला थैंक यू मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं यूराका पब्लिक स्कूल में संस्कृत पढ़ाता हूँ मैं आपके सामने एक संस्कृत की पोएम बोलूँगा जो इस प्रकार है मम भारत माता कलुष विषम हरते लोकानाम अमृतमयी मम भारत माता हिमकिरटिनि सिन्धुमेखला हृदि गङ्गा निर्मला सुजला सुफला शश श्यामला यद् अञ्जलधनधान्यपुरीता क्षेममहीमं भारतमाता शान्तिमयी यशारवाणी असुरमर्दिनी या सर्वाणी श्रीस्वरूपिणी या कल्याणी ज्ञानशक्तिसुखदा सुरधरणी पुण्यमहिमं माता थैंक यू सर योगेश ये तो सच है कि भगवान है है मगर फिर भी अनजान है धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है ये तो सच है कि भगवान है जन्मदाता है जो नाम जिन से मिला थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ ज्ञान जिन से मिला क्या भला क्या बुरा ओ, ओ, ओ, ओ कितने उपकार है क्या कहे ये बताना ना आसान है धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है जन्म देती है जो माँ जी से जग कहे अपनी संतान में प्राण जिसके रहे आ, आ, आ, आ लोरिया होटो पर सपने बुनती नजर नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे हा ममता के रूप में है प्रभु आपसे पाया वरदान है धरती पे रूप माँ बाप का उस विदाता की पहचान है ये तो सच है कि भगवान है नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 एफएम तरंग इस कार्यक्रम में ओपन सेशन में आपने सभी यूरेका पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी और टीचर हमारे बीच में आकर परफॉर्मेंस दिए और बहुत ही अच्छा जो संगीत में एक समा बांध गया था और बहुत ही अच्छा फील कर रहे थे आप भी और मुझे लगता है कि हम सभी लोग अब सेकेंड राउंड में अगले एपिसोड में जाएंगे लेकिन आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ इसी तरह नए नगमों के साथ होंगे तब तक हमें दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो अब मुश्किल